ये श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का विदेश विभाग है आपका पुराना साथी रेडियो सिलोंग भाइयों फिल्म चोरी चोरी का ये गीत आपको ले आया है 1956 की गीत माला की छाव में मगर भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं खुद यादों के पंख लगाकर पहुंच गया हूं 1956 के शुरू होने से दो महीने पहले के जमाने में जब रेडियो सिलोन पर गीत माला बहुत बहुत जोरों में चल पड़ी थी मैं उसे बम्बई में ही रिकॉर्ड करता था और उसका टेप हर हफ्ते के ब्रॉडकास्ट के लिए हवाई जहाज के जरिए रेडियो सलोन भेजा जाता था कि एक दिन मुझे खबर मिली कि मेरा दफ्तर मुझे रेडियो सिलोन के स्टूडियोज में एक महीने की ट्रेनिंग के लिए कोलंबो भेजने वाला है भाई मैं तो उछल पड़ा खुशी के मारे कि हाँ हाँ एक तो मेरी आवाज की मंजिल रेडियो सिलोन उस पर पहली बार हवाई जहाज में बैठकर फॉरेन ट्रिप भी मिलने वाली है ये ये सच है या ख्वाब जिंदगी ख्वाब है ख्वाब में झूठ क्या और भला सच है क्या जिंदगी साब है तो बस मैं जरा सा घबराते हुए हवाई जहाज में बैठा पहली बार बैठा था ना और बादलों की रुपहरी चादर के ऊपर से उड़कर पहुंच गया कोलंबो जहां एयरपोर्ट पर मुझे लेने आए बम्बई से रेडियो सिलोन भेजे हुए गजब के ब्रॉडकास्टर विजय किशोर दुबे मगर बहनों भाइयों आप शायद सोच रहे होंगे कि आज अमीन भाई बस रेडियो सिलोन की ही अगर बातें करेंगे तो फिर गीतमाला की कहानी का क्या होगा तो अरे यार गीतमाला की 1956 की कहानी तो शुरू हो गई है ना देखिए 1956 के सालाना प्रोग्राम में चोरी चोरी का गीत आजा सनम सोलवी पादान पर बजा था और उस साल के गीत नंबर 15 की फिल्म थी जागते रहो उन दोनों की भी सिर्फ झलक बजी और अब आती है झलक 1956 के गीत नंबर 14 की फिल्म तांगे वाली भीगी भीगी झिम झिम झिम बदरवा बरसे नैना मोरे तरसे आजा नहीं नहीं बहनों भाइयों घबराइए नहीं आज छाओ वाले कई खूबसूरत गीत करीब करीब पूरे भी बजने वाले हैं बस थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए अभी तो मैं यादों की दुनिया में बल्कि कोलंबो में हूँ और पहली बार रेडियो सिलोन स्टूडियोज में कदम रख रहा हूँ वी के दुबे यानी विजय किशोर दुबे साहब के साथ भाई वैसे मैंने ऑल इंडिया रेडियो के तो बहुत सारे स्टूडियोज देखे थे लेकिन रेडियो सिलोन के स्टूडियोज का हाल मैंने कुछ अनोखा सा पाया हर स्टूडियो में दो कमरे दोनों के बीच खिड़की एक तरफ सिर्फ बोलने के लिए बैठता था अनाउंसर और दूसरी तरफ था स्पिनर यानी वो जो अपने सामने सजे हुए चार टर्न टेबल यानी ग्रामोफोनों से बारी बारी गाने भी बजाता था और वो विज्ञापन के अनाउंसमेंट भी बजाता था जो रिकॉर्डों में ढलकर तैयार रखे होते थे उसके पास और अनाउंसर और स्पिनर दोनों खिड़की के आर पार से इशारों इशारों में पूरा प्रोग्राम इस तरह बिना रुकावट के पेश किया करते थे कि जैसे दो प्रेमी बाहर के मौसम में हाथ में हाथ लिए पड़े चले आ रहे हूँ मोहब्बत की राहों पर कोयल तो करे आया जमाना गीत प्यार के सामने चलो आए दिन बहार के झूमते नजारे रंगदार के नदी किनारे तो एक पुकारे सारा जमाना गा गीत प्यार के पुकारी हाँ, देखा आपने बहनों भाइयों बच गया ना एक पूरा गीत 1956 की गीत माला की छाओ का ये गीत स्वर्गीय producer director B R Chopra की फिल्म एक ही रास्ता का था ये फिल्म उनके अपने बैनर यानी बी आर फिल्म के बैनर पर बनी पहली फिल्म थी काफी साहसी कंट्रोवर्शियल कहानी थी उसकी जिसकी वजह से शुरू शुरू में कैसी तकलीफें आईं ये आर चोपड़ा साहब की अपनी आवाज में सुनिए मीन भाई पहली पिक्चर तो ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर थी जी जो उस वक्त बहुत ही रिस्की माना जाता था हम्म। मुझे याद है जब मैंने स्टोरी उसकी मिस्टर अशोक कुमार को दिखाई जी तो अशोक कुमार का एक ही कहना था ये जो पिक्चर है ये बॉक्स ऑफिस पॉइजन है अच्छा और ये पिक्चर बना लो ठीक है तुम तुम्हारी हिम्मत है तो जरूर बनाओ हम्म। मगर ये पिक्चर ये सोचना कि इसका बॉक्स ऑफिस उल्टा भी पड़ सकता है हम्म। और मुझे याद है कि जब वो एक सीन हमारा था इस वक्त के मीना कुमारी विधवा हो जाती है हम्म। और अशोक कुमार उसके हस्बैंड के दोस्त के नाते उसको मिलने आता है हम्म। तो लोग उसको बदनाम करते हैं और उसको गली से निकालने की धमकी देते हैं हम्म। अशोक बीच में पड़ते हैं और उसके ऊपर लाठियों की बरसात हो जाती है उसका माथा लाल हो जाता है तो जिस वक्त ये हालत होती है तो वो कहता है क्यों इसक्यों कर रहे हो इसी वास्ते कर रहे हो कि ये औरत एक विधवा है हम्म। अगर सिर्फ इसी वास्ते करते हो कि विधवा है तो ये लेको मैं इसको देता हूँ सुहाग के निशानी देता हूँ और अपने फोन का टीका लेकर उसके माथे में लगा देता है हम्म। वो सीन मुझे याद आज तक याद है कि जब मैं डिस्ट्रीब्यूटरों को दिखा रहा तो वो कहते ये चलेगा ही नहीं हम्म। ये सीन तो कभी पब्लिक लेगी ही नहीं और मैं पब्लिक की दाद देता हूँ जब पिक्चर वो देखी उन्होंने उस सीन तो खूब ताली बजाई उन्होंने और साहब फिल्म इतनी चली एक ही रास्ता कि उसने सिल्वर जुबली भी बनाई बैरोन भाइयों अपने सुलझे हुए इरादों पर डटे रहना अटल रहना मैंने भी काफी हद तक बी आर चोपड़ा साहब ही से सीखा था और आगे चलकर गीतमाला से भी उनका खास नाता रहा मगर वो कहानी किसी अगले वॉल्यूम में आएगी अभी तो उन्नीस के गीतमाला वार्षिक प्रोग्राम के तीन और गीत की झलकें मेरी तरह दौड़ती दौड़ती चली आ रही हैं इसलिए मेरी तरह इनका भी पसीना बह रहा है गरीबों का पसीना बह रहा है गरीबों का पसीना बह रहा है ये पानी बहते बहते कह रहा है कभी वो दिन भी आएगा ये पानी रंग लाएगा ये पानी रंग लाएगा फिल्म नया आदमी का ये गीत उस साल नंबर तेरह पर था और सालाना संगीत श्रेणी की पायदान नंबर बारह पर था फिल्म मीम साहब का गीत जिसके मुखड़े की तर्ज ने प्रेरणा पाई थी एक बड़े मशहूर इंग्लिश गीत से was on the Isle of Capri that I met her. अब अगर आपको गीतमाला की छाव में भूख लग रही हो तो ये देखिए कि 1956 की एनुअल पायदान नंबर 11 पर क्या लेकर कौन आए थे मेरा नाम अब्दुल रहमान वाला मैं हूँ पठान खाने वाले का दिल होता गुल बैर बैर बाबा मेरा नाम अब्दुल रहमान पिस्ता वाला मैं हूँ पठान खाने वाले का दिल होता गुल बैर बैर बाबा अरे भाई उस साल फिल्म भाई भाई के इस गीत को और एक और गीत को भी खूब मिली थी पॉपुलैरिटी की धूप पॉपुलैरिटी की धूप मगर उस फिल्म के दो जो सबसे गजब के गीत थे ना वो तो भाई छाओ में रह गए एक तो गीत वो था जिसे लखनऊ में सुनकर मशहूर गजल गायिका बेगम अख्तर इतनी प्रभावित हो गई कि लीजिए ये उन्हीं की आवाज में सुनिए उनकी फिल्म भाई भाई रिलीज हुई थी जी उन्हीं दिनों मैं दिल्ली आई हुई थी जी। मेरे साथ मुजद्दद न्याजी और एक आनंद एक बड़े फनकार हैं हम्म। जी के और बहुत से लोग जमा थे हम्म। मैंने पहली बार रेडियो पर उनकी फिल्म का ये गाना कदर जाने ना रेडियो पर सुना अच्छा अच्छा तो मत पूछिए कि क्या हालत हुई मैंने उसी वक्त मदन जी को बम्बई से कॉल किया हाँ। और फोन के ऊपर पूरे 18 मिनट तक या शायद 22 मिनट तक हाँ। ये गाना हम लोग बारी बारी सब सुनते रहे उनकी जबान से भाई मैं तो मदन मोहन जी के साथ बैठा नहीं हुआ था उस दिन जब उन्होंने फोन पर यह गाना गाकर सुनाया वरना मैं रिकॉर्ड ही कर लेता इसलिए आप ओरिजिनल गाना सुन लीजिए बहनों भाइयों सिलोन ने तब तक जरूर कदर जान ली थी विजय किशोर दुबे साहब की आपको याद है ना मैं आज आपको मेरी पहली बार की हुई रेडियो सिलोन की सैर की कहानी भी सुना रहा हूँ हम्म। हाँ तो दुबे साहब रेडियो सिलोन ज्वाइन करने से पहले ऑल इंडिया रेडियो के बड़े सीनियर और मजे हुए ब्रॉडकास्टर थे और हिंदी और उर्दू दोनों के माहिर और अव्वल दर्जे के radio programme producer radio Ceylon जाकर उन्होंने वहां की ब्रॉडकास्टिंग का नक्शा ही बदल दिया था हिंदी सर्विस में एक संवरा हुआ प्रोफेशनलिज्म ले आए थे दुबे साहब वहां की घिसी पेटी रिकॉर्ड लाइब्रेरी को उन्होंने जल्द ही चालीस हजार बेहतरीन गीतों से सजा दिया था हर रोज के प्रोग्राम की फर्स्ट क्लास रूपरेखा बना दी थी और कई नए नए प्रोग्राम भी रच दिए थे जो कई वर्षों तक लोगों के दिलों में बसे रहे साहब उनके दिलों में बहनों और भाइयों आज रेडियो सिलोन तो करीब करीब बंद हो चुका है मगर दुबे साहब के प्रोग्राम और उनके बाद आए हुए अनाउंसर्स जैसे गोपाल शर्मा शिव कुमार सरोज और मनोहर महाजन वगैरह के प्रोग्राम और बम्बई से भेजे हुए वो आ, कई पुराने बड़े धमाकेदार स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम भी सुनने के लिए आज भी लोग तरस जाते हैं पिया पिया पिया पिया पिया पिया, पिया सैया पुकारे हम भी चलेंगे सैया संग तुम्हारे हम भी चोरी चोरी चोरी चोरी चोरी चोरी काहे हमें पुकारे तुम तो बसी हो गोरी मन में हमारे तुम तो बसी हो गोरी मन में हमारे पिया पिया पिया फिल्म बाप रे बाप के ये पिया पिया पिया थे 1956 की वार्षिक संगीत चोड़ी के पायदान नंबर 10 पर और नंबर 9 पर आंखों के इशारे थे सीआईडी के आंखों ही आंखों में इशारा हो गया बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया आंखों ही आंखों में इशारा हो गया बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया आँखों ही आँखों में अच्छा भाई गीत वाले की छाओ में आपने फिल्म स्टारों की आवाजें तो कई सुनी हैं इसलिए आज मैं आपको फिल्म संगीत के गोल्डन पीरियड की शानदार फिल्मों के कुछ बड़े ही लाजवाब और कामयाब डायरेक्टरों की आवाजें भी सुनवा रहा हूं लीजिए अब गुरुदत्त की हिट फिल्म सीआईडी के डायरेक्टर राज खोसला की आवाज बढ़ने वाली है मगर पहले इतना बता दूं आपको कि राज खोसला साहब गाते भी खूब थे जी हाँ। और किसी जमाने में रेडियो सिलोन के एक स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम रंग तरंग में वो हर हफ्ते आकर के एल सहगल के गीत गाया करते थे तो फिर वो डायरेक्टर कैसे बने सबसे बड़ी तकदीर मेरी यही थी कि मुझे गुरुदत्त मिले वो एक खूबसूरत फनकार नहीं थे उनके बहुत हसीन आदमी भी थे उनकी बदौलत जो भी कुछ हूं मैं आज देवानंद और गुरुदत्त की बदौलत हूं और उन्हीं से मैंने मेहनत सीखी उन्हीं से सीखा कि जब तक दिल में वलवला है तब तक जिंदगी है जब तक मेहनत है तब तक तकदीर है और उदत को मंजूर था कि फिर गुरुदत्त से मेल हो तो मैंने उनके लिए सीआईडी बनाई जो कि बड़ी मकबूल फिल्म थी उसमें देवानंद हीरो थे गुरुदत्त प्रोड्यूसर था और मैं डायरेक्टर था उसी फिल्म में इंसिडेंटली वहीदा रहमान भी इंट्रोड्यूस हुई अच्छा बहनों भाइयों अब राज खोसला साहब को सुनने के बाद हो जाइए तैयार क्योंकि अब एक के बाद एक कई लाजवाब मगर थोड़े से कम चले हुए गीत माना की सुरमई छाव वाले गीत आ रहे हैं आपको प्रेम के पहले मिलन की याद दिलाने के लिए क्या कर चले राज था जो दिल में छुपा कर चले गए वाह भाई उन दिनों के दुख भरे गीतों में भी इतनी मीठी सी गहराई होती थी कि दिल झूम उठता था और गीत अगर खुद झूमता हुआ होता तो दिल उछलने लगता था साहब अच्छा उन्नीस की छाव वाले इस गीत की फिल्म का नाम मुझे इसलिए लेना पड़ेगा बहनों भाइयों क्योंकि अब मैं इस फिल्म के बारे में एक घटना उस शानदार अदाकार की आवाज में आपको सुनाऊंगा जिसने इस फिल्म हलाकू का टाइटल रोल अदा किया था यानी रौबदार villain Pran Hulagu was grandson of Changez Khan Hulagu की पिक्चर में ईरान को फतह कर लेता है जी और वहां के बादशाह को गिरफ्तार कर लेता है हम्म, हम्म। तो वहां की एक लड़की है जिससे उसको इश्क हो जाता है हम्म। तो उसको अपने महल में बुला लेता है और वो डांस कर रही है तो डांस करते करते उसको मौका मिलता है तो इसका खंजर निकाल के वो हलाकू को मारना चाहती है तो हलाकू उसका हाथ पकड़ लेता है खंजर छीन कर उसको मारना चाहता है लेकिन जब उसकी आंख में आंख डालता है तो नहीं मार सकता because he was a great lover तो खंजर फेंक के गुस्से में वहां चला जाता है और अपने वजीर से जाकर डायलॉग बोलता है लड़की का नाम था नीलोफर हम्म। तो वो ये नहीं कहता कि नीलोफर ने मुझे मारने की कोशिश की हम्म, हम्म। क्योंकि हलाकू कभी सोच ही नहीं सकता कि औरत उसे मार सकती है तो वहां जाकर वो बहुत ही भिन्नाया हुआ और कहता है नीलोफर ने बदतमीजी की और हम सजा न दे सके ईरान की आबो हवा शायद मुगल खून को ठंडा दिए देती है ओ हो हो देखिए ना बहनों भाइयों इस वॉल्यूम का करीब आधा समय निकल गया और अभी तो मुझे आपसे बहुत कुछ कहना बाकी है और बहुत सारे अमर गीत भी मुझसे कह रहे हैं कि ओए अमीन हमें ना भूल जाना तो बहनों भाइयों अब आप ही बताइए मैं क्या करूं किसे भूल